फूलों वाला दरख्त एक बहुत दूर के मुल्क में पालिया की सल्तनत में एक बादशाह रहता था जिसके दो बच्चे थे बेटी सीमा और बेटा वीर उसी सल्तनत में सरीना नाम की एक खातून रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं जैस्मीन और सारा सरीना गुजारा करने के लिए छोटे मोटे घरेलू काम किया करती थीं फर्श साफ करने से लेकर शहर के लोगों के लिए खाना बनाने तक इस बात से उसकी बेटियां बहुत मायूस थीं। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया मैं अम्मी को हैरत ज़दा करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है हम बाहर बाग में जाएंगे मुझे पानी से भरे दो घड़े चाहिए होंगे वो चुड़ैल जिसके लिए मैं काम करती थी वो मेरे काम से बहुत खुश थी उसने मुझे एक तिलस्मी नज्म दी गाने के लिए एहतियात से एक घड़े को मेरे ऊपर उंडेलो और मैं बन जाऊंगी एक खुशबूदार फूलों का दरख्त उन फूलों को एहतियात से तोड़ना बिना किसी पत्ते या कली को नुकसान पहुंचाए, फिर दूसरे घड़े को उस पूरे दरख्त पर उंडेल देना और फिर मैं इंसान बन जाऊंगी बस तुम्हें इतना ही करना है जो मैंने बताया और फिर मैं इंसान बन जाऊंगी बहुत खूब पर हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि पैसा कैसे मिला वरना वो खुश नहीं होंगी वो बाहर बाग में गईं, दो घड़े और दो खाली टोकरियां लेकर सारा बैठ गई और वो तिलस्मी कलमा बोलने लगी फूलों की सुहानी खुशबू फैलेगी जब मैं एक दरख्त में तब्दील हो जाऊंगी और बढ़ूंगी तब से आगे जैस्मीन ने पहला घड़ा अपनी बहन पर उंडेला और जल्दी ही वो एक ऐसे दरख्त में तब्दील हो गई जो फूलों से लदा हुआ था जिसने पूरे बाग में अपनी खुशबू फैला दी जैस्मिन ने बहुत एहतियात से और बहुत संभाल कर फूल तोड़े और जल्दी ही दोनों टोकरियां भर गईं। ये काफी होगा आज के लिए अच्छा पैसा कमाने के लिए उसने दूसरा घड़ा लिया और उसे दरख्त पर उंडेला और जारा अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गई इन फूलों को मैं कहाँ फरोख्त करूँ तुम महल के फाटक पर क्यों नहीं जाती शायद तुम्हें कोई मिले जो तुम्हें इन खूबसूरत फूलों की अच्छी कीमत अदा करे ओह ये तो बहुत ही उम्दा तजबीज है जारा फूलों की टोकरियाँ महल के फाटक तक ले गई और बुलंद आवाज में पुकारने लगी खुशबूदार फूल ले लो तभी शहजादी सीमा ने उसे अपनी खिड़की से देखा वो बेताब होकर अपनी अम्मी की जानिब दौड़ गई। अम्मी बाहर वो फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मुझे दिला दीजिए ना मल्लिका ने सिर हिलाया और पहरेदारों को बुलाकर कहा कि उस फूल वाली लड़की को बुलाया जाए उन्होंने उन खूबसूरत फूलों को देखा और उन फूलों की दिलकश खुशबू कमरे में छा गई। इन खूबसूरत फूलों के लिए तुम्हें क्या कीमत चाहिए बेगम साहिबा जो भी रकम आप तय करेंगी वो मुझे कबूल होगी क्योंकि हम गरीब लोग हैं मल्लिका ने सोने के सिक्कों का एक बटुआ जारा को पकड़ा दिया वो बे इंतहा खुश हो गयी बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा जारा जल्दी जल्दी अपने घर गई और अपनी बहन को सिक्कों से भरा वो बटुआ दिखाया जैस्मिन ने उसकी तरफ हैरत और जोश से देखा वाह पर हमें अभी तक अम्मी को बताना नहीं चाहिए हाँ अगले कुछ दिनों तक उन्होंने महल में फूल बेचे और सोने के सिक्कों से भरे तीन बटुए इकट्ठे कर लिए इस बीच शहजादा वीर ये जानने को बेताब था कि ये फूल कहाँ उगते हैं मैं सोच रहा हूँ ये फूल कहाँ से आए हैं मैंने इन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा इनकी इतनी दिलकश खुशबू है तभी उसने अपने वालिद के वफादार वजीर कुमार को तलब किया जिससे उसका करीबी रिश्ता था कुमार ओह हुजूर ये कौन से फूल हैं और ये कहाँ से आते हैं एक लड़की हर दिन ये फूल लेकर आती है जो आपकी बहन को बहुत ही पसंद है ओह सचमुच मैं यकीनन जानना चाहूंगा कि वो इन्हें कहाँ से लाती है और वो कहाँ रहती है कुमार ने वीर को फूल बेचने वाली लड़की के घर का रास्ता बता दिया अगले दिन वीर उस घर में गया जहाँ उसने उन दो बहनों को बाग में देखा उसने देखा जारा ने खुद को फूलों वाले दरख्त में तब्दील कर दिया और जैस्मिन ने भूल तोड़े जब तक कि वो इंसानी शक्ल में दोबारा तब्दील नहीं हो गई वाह ये तो बहुत ही कमाल का था और वो कितनी हसीन है उसकी खूबसूरती और खुशबूदार फूलों की कशिश पर फिदा होकर वीर वापस महल में गया जहाँ उसने कुमार को वो सब बयान किया जो उसने देखा था वो कमाल की है कुमार मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ उसने उस सब के मतलब बताया कि कैसे वो एक दरख्त में तब्दील हो गई और वापस एक खूबसूरत इंसान में वो बात करते हुए शर्मा रहा था ये कैसा एहसास है क्या ये मोहब्बत है लगता है ये ही है मालिक वीर <laughs> ये देखते हुए कि कैसे वीर उस लड़की पर फिदा है कुमार बादशाह के पास गया और उन्हें सब तफसील बताई बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उसके बेटे को मोहब्बत हो गई है लड़कियों की अम्मी को बुलाया गया बादशाह से मिलने के लिए मोहतरमा सरीना आपको कल शाही महल में तलब किया गया है बादशाह के साथ दावत के लिए वो आपकी बेटी के मुतालिक गुफ्तगु करना चाहेंगे ये कहकर वो घोड़े पर सवार होकर चला गया और माँ को बहुत ही उलझन और हैरत में डाल दिया जैस्मिन जारा हाँ अम्मी तुम दोनों लड़कियाँ क्या करती रही हो बादशाह ने मुझे क्यों तलब किया है और ये फूल बेचने वाली का क्या किस्सा है क्या चल रहा है इसे अब मुझे बताओ आ, बात ये है वो अब डर गई थी और उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे जारा दरख्त में तब्दील हो सकती है और उन सोने के सिक्कों के बटुए के मुतालिक भी जो उन्होंने बचाए थे ओ तुमने ऐसा क्यों किया जबकि अभी मैं जिंदा हूँ हमें मुआफ करना अम्मी हम बस मदद ही करना चाहते हैं अगले दिन सरीना शाही महल के हॉल में गई जब वो हॉल में दाखिल हुई उसने देखा कि बादशाह और मल्लिका मेज पर बैठे हैं और उनके सामने लजीज पकवानों का दस्तरखान बिछा है खुशाम दीद हजूर आला मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ हमारे बेटे को तुम्हारी बेटी जारा से मोहब्बत हो गई है और वो उससे निकाह करने का ख्वाहिशमंद है मेहरबानी करके ये पान और सुपारी कबूल फरमाओ उनका रिश्ता पक्का करने के एवज में सरीना को अब राहत महसूस हुई कि इसी वजह से उसे वहाँ बुलाया गया था और वो मुस्कुराई मैं बहुत हलीमी से इसे कबूल करती हूँ हुजूर आला क्योंकि मैं एक गरीब खातून हूँ और ये सचमुच मेरी इज्जत अफजाई होगी बहुत खूब तो फिर आज ये तय हो गया निकाह फौरन होगा एक शानदार निकाह का जलसा हुआ और दोनों ही घरानों में खुशियाँ छा गयी क्योंकि वीर और जारा का निकाह हो गया था निकाह के बाद जोड़ा वापस महल में गया अब क्योंकि तुम मेरी बीवी हो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो आप बताइए कि मैं क्या करूँ मैं चाहता हूँ कि तुम खूबसूरत फूलों के दरख्त में तब्दील हो जाओ मैं चाहता हूँ कि पूरे महल में खुशबू फैल जाए क्या मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं मैंने अपनी आँखों से तुम्हें दरख्त में तब्दील होते देखा है अगर तुम ये अपने शौहर के लिए नहीं करोगी तो फिर किसके लिए करोगी अब वो ठीक है जारा ने उसे समझाया कि क्या करने की जरूरत है वो दोनों बाहर महल के बाग में गए पानी के घड़े लेकर और वीर ने वही किया जो उसे बताया गया था उन्होंने ये अगले कुछ दिनों तक किया और शहजादी जिसने अपनी खिड़की से ये सब देखा बहुत हसद से भर गई वो ये खूबसूरत फूल हर दिन इस्तेमाल करते हैं और मुझे कुछ भी नहीं देते हैं मुझे इसके मुतालिक कुछ करना चाहिए अगले दिन सीमा अपनी वालिदा से गुफ्तगु करने गई जो वीर के साथ थी और उसने कहा अगर अम्मी इसकी इजाजत देती हैं तो फिर मेरे लिए ना कहने की कोई वजह नहीं रहती बहुत खूब पर उसका ख्याल रखना और उसे महफूज घर वापस लाना शुक्रिया जारा सीमा और अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में गई असल में वो अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती थी कि कैसे जारा एक दरख्त बन सकती है वो जारा के पास गई और बोली जारा तुम एक फूलों के दरख्त में तब्दील हो सकती हो है ना बेकार की बात है मैं बस एक इंसान हूँ कोई तिलिस्मी बाशिंदा नहीं हूँ <laughs> झूठ मत बोलो मैंने तुम्हें बहुत मर्तबा ये करते हुए देखा है तुम हमारे लिए भी ये क्यों नहीं करती ये तो बेहद खुद गर्जी हुई ना मैंने तुम्हारे साथ यहाँ आकर गलती कर दी है सारा ने मायूस दिल से शहजादी की बात मान ली उसने शहजादी को वो पूरा तरीका समझाया कि उसे क्या करना होगा और उनमें से एक लड़की झरने से दो पानी के घड़े भरकर ले आई इस पर तवज्जो देना कि फूलों को तोड़ते वक्त तुम्हें बहुत एहतियात बरतनी होगी और इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी कली ना तोड़ो या किसी पत्ते को नुकसान ना पहुंचाओ। ये कहकर वो बैठ गई और एक लड़की ने बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़ा पानी उंडेला कितना सुंदर है तभी जोरदार बारिश होने लगी और आसमान में बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी लड़कियों ने उसे नजरअंदाज किया जो कुछ उन्हें बताया गया था और कलियां और टहनियां भी तोड़ डाली जब उन्होंने जल्दबाजी में फूल तोड़े और वो घड़ा उसने बस यूं ही इधर उधर पानी का घड़ा उड़ेल दिया और वो सब जल्दबाजी में घर की तरफ भाग गई लड़कियों के फूहड़पन के सलीके ने जारा को जख्मी कर दिया उसकी टांगों और बाजुओं पर जख्म और खरोचें थीं जिससे वो हर कदम पर लगड़ा कर चलती उससे खौफ जदा और ठेस खाकर जो सीमा ने उसके साथ किया था वो भाग गई अपनी वालिदा के घर की जानब लंगड़ा कर चलते हुए इस दौरान ये देखते हुए कि सीमा जारा के साथ वापस नहीं आई है मल्लिका बहुत नाराज हो गई। जारा कहाँ है किसे पता हम सब अपने बल पर घर वापस महफूज वापस आ गए हैं ना हम वीर को क्या कहेंगे फिक्रमंद और घबराहट में कि वो वीर को क्या कहेंगी मल्लिका ने ये पता लगाने की कोशिश की कि सीमा ने क्या किया था मुझे बताओ क्या हुआ था मल्लिका ने बहुत कोशिश की उससे सब तफसील मालूम करने की पर सब बेकार गया बाद में उस दिन जारा घर पहुंच गई एक कपास के कारोबारी के साथ जिसने उस पर रहम करके उसे घर तक सवारी मुहैया कराई थी बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर कोई बात नहीं मैम उसकी वालिदा का दिल टूट गया अपनी बेटी को इस जख्मी हालत में देखकर और फौरन उसे घर के अंदर ले गई ओ मेरी बच्ची तुम्हें क्या हुआ जारा ने अपनी वालिदा को वो सब बताया जो हुआ था और कैसे उसे शहजादी ने छोड़ दिया था फिक्र मत करो तुम्हें उस खौफनाक महल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं उसकी वालिदा ने बहुत संभाल कर उसके जख्मों की मरम पट्टी की और अगले कुछ दिन तक उसकी अच्छे से तीमारदारी वहाँ महल में शहजादे ने कई दिनों तक उसके वापस आने का इंतजार किया और फैसला किया कि वो खुद बाहर जाएगा और उसकी तलाश करेगा मुझे अपनी शहजादी को कर घर वापस लाना है जाओ मेरे बेटे और मेरे खादिमों को अपने साथ ले जाओ वो भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे शहजादा और उसके सिपाही पूरी सल्तनत में घोड़ों पर सवार होकर निकले जारा की तलाश में और आखिरकार वो उसके घर पहुंचे यहाँ हो तुम मैं इतना फिक्रमंद था मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा तुम यहाँ क्यों आए हो क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी के साथ क्या किया मुझे इल्म नहीं था कि ये मामला है मुझे मुआफ कर दीजिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बहन इसकी कीमत चुकाएगी मेरी जान मेहरबानी करके मेरे साथ महल वापस चलो वो खौफ जदा है कि उसे दोबारा चोट पहुंचाई जाएगी और डरती है कि वो शहजादी के तौर पर मकबूल नहीं की जाएगी पूरी सल्तनत उसे लंगड़ी कहेगी नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जैसी है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा देखो मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ आऊंगी तुम अपनी बहन के साथ कुछ नहीं करोगे मैंने उसे मुआफ कर दिया है बस इतना ही ठीक है सारा को वापस महल ले जाया गया जहाँ बादशाह और मल्लिका अपनी बहू को वापस आया देखकर बहुत खुश हुए ओ जारा मेहरबानी करके मुझे मुआफ कर दो मुझे फूल नहीं तोड़ने चाहिए थे मैं बहुत ही अहमक थी मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी कोई बात नहीं और इस तरह वीर और जारा ने खुशी खुशी पालिया की सल्तनत पर हुकूमत की जारा को सल्तनत की रियाया बहुत पसंद करती थी खासकर वीर जिसने उसके अपाहिज होने के बावजूद उसे कबूल किया और उससे एक सा सलूक और मोहब्बत की